पाइन कहि गति पति पावन राम भज सुनु मन गणकाय जा ब्याध गेध गजा देखल दिखले घना किरात खस सपचादियति अघ रूप जे कही नाम बारक ते पिपावन हो श्री राम नमामिते अरे मूर्ख मन सुन पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया आभीर यवन किरात खस स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ रघुवंश भूषण चरित नर कहीं जगा वही कलिमल मनोमल धोये बिनु श्रम राम धाम से सत सतपंच चो पाए मनोहर जान जो नर उर धरे दारुण यद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं सुनते हैं और गाते हैं वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं अधिक क्या जो मनुष्य पाँच सात चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्या कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है उनके भी पांच प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है जो पांच सात चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक रामय काम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाके कृपा लवलेश मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री राम जी ही हैं इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है मोह समदीनन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मणि अरहु विषम भवी काम नार प्यार जमेन लोभहि प्रिय जमेदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहिराम हे श्री रघुवीर मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है वैसे ही हे रघुनाथ जी हे राम जी आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए यत्पूर्व प्रभुणा कृत सुकविना श्रेय भुना दुर्गम श्रीमद्राम्बपदाब्जभक्तिमनिशं तु रामायणम् मत्वा दद्रघुनाथरामनिरतं स्वान्तस्तमशान्तये भासामिदं चकारतुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तेप्रदम् मायामोहमलापहं सुविमलम् प्रेमाम्बुपूरं शुभम् भक्त्याम गाहन्ति ये ते संसार किरण दह्यन्ति नो मानवा श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला माया मोह और मल का नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते श्री राम श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिश कलुष विध्वंसिने सप्तम सोपान समाप्त कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह सातवां सोपान समाप्त हुआ उत्तरकांड समाप्त